किसी की निंदा करे और न किसी की स्थिति करे क्योंकि संसार में किसी की निंदा स्थिति करोगे तो दोनों में भलाई नहीं निंदा करने में भलाई नहीं है और किसी की स्थिति करने में भी भलाई नहीं है उससे हानि होगी लोगों दोनों को मना करो लेकिन स्थिति की जाती है प्रशंसा की जाती है जब की जाती है तो कल्याण प्रयास एक कार्य हो उसमें करना भी चाहिए जैसे भगवान ने किया तो इन सब लोगों ने भगवान की प्रशंसा सुनी मुझसे भगवान प्रशंसा कर रहे हैं ये सब सुनी लेकिन सुनकर के किसी का अहंकार नहीं आता ये सब भगवान की चरणी पकड़ते हैं और उनको शिवरी लगाते हैं और ये व्यक्त करते हैं कि सर आपकी कृपा है इसमें हमारा कहीं अंदर में हमको इतनी प्रशंसा प्राप्त हो रही है ये प्रशंसा के हम योग्य नहीं ये आगे देखिए पुनः तब बोल हनुमाना लंका जाओ करो भगवाना समाचार जान तुम्हें सुना रहो बात सुन गए तुम चलिया रहो तब हनुमंत नगर आए सुन निश्चरी साकर धाये बहु प्रकार पूजा की

बलयन विपत सेन समेता सब विदित कुशल कौशला पीता मात समर जी के उदस सीता चल राज विभीषण पायो सुन कभी बचन हर से उठायो हर समन तन पुलक लोचन सजल का पुनि पुनि रमा तुई कय लोकम कपि किमपि नहीं बानी समा तुम महातुमय पायो अखिल जग राजवाज न संशयम रण की गरिपुदल बंधु श्याम रामम नमामय सब गुण सकल तब हृदय बसम हनुमंद सानुकूल कौशलपति राम समेत अनंद अनंत श्यावर राम चंद्र की है पवन उसके मुख पर न करो ठीक पीछे करो थोड़ा बच जाए नहीं तो सामने बैठा हुआ अगर तो सीधे उसकी प्रशंसा कर दी तो सीधा बात के लगा तुरंत अहंकार तो प्रचलित होगा हाँ तो थोड़ा बच जाए ठीक पीछे प्रशंसा करोगे तो इतना प्रभाव उसके ऊपर नहीं पीछे दूसरे व्यक्तियों को प्रशंसा जब दूसरे को प्रशंसा करेंगे तो वो व्यक्ति जो वो हो उसी प्रकार से स्वयं भी अपने में गुण बढ़ाने की कोशिश करेगा उसी प्रकार का कार्य वो भी करने की कोशिश करेगा उनका कबूल लाभ तो हो जाएगा लेकिन जिस व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है उस प्रशंसा से उसकी हानि बच जाएगी इसलिए सामने मुक्त सामने आमने सामने प्रशंसा करना भी असांस्कृतिक माना जाता है अनकल्चर अन्य प्रशंसा जो असंस्कृत लोग हैं इतनी बात को गहराई से नहीं समझते कि तो प्रशंसा करने के क्या परिणाम होंगे इतनी गहरी बुद्धि इनकी तो नहीं है तो बेचारे पिछली बुद्धि के व्यक्ति सामने सामने प्रशंसा कर देते हैं क्या इसका क्या होगा परिणाम इसलिए प्रशंसा करते महाराज कहते हैं कि इतना प्रभु बोल लिए हनुमाना और उसके बाद फिर ये सब जब कार्य हो गया विभीषण का विवाद तिलक हो गया इनके शक्ति भगवान ने सबके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्ति कर दी तब उसके बाद में पुल प्रभु बोल लिए हनुमाना उसके बाद उनके के उसके बाद ये हुआ कि भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और उनको कार्य सौंपा कहा कि लंका जाओ करो भगवान हाँ। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि तुम लंका जाओ लंका जाओ जहाँ सीता जी हैं वहाँ दूर जाओ और समाचार जाने के लिए सुनाओ और जो कुछ घटनाएं घटी उनकी सब समाचार रावण विजय का समाचार सीता जी को जाकर के सुना और सास कुशल तुम चली आवो और उनकी भी कुशल पूछ करके तुम चले आओ ये नहीं कहा सीता जी को ले आ है देखो अब इसके भी पीछे आप थोड़ा सावधानी का विचार करेंगे तो अब उसमें जो है ये व्यवस्था किस प्रकार से होती है नियम किस प्रकार के हैं उनको ध्यान दें कैसे कर्म हड़बड़ी नहीं है कौन कौन से कार्य जो है व्यवस्था से उसी प्रकार से चलता है तो हनुमान जी भेजे जाते हैं सीता जी को यहाँ के सब युद्ध के समाचार सुनाने के लिए और सीता जी के समाचार लेकर के भगवान राम को सुनाने के लिए दूध बन करके हनुमान जाते हैं और हनुमान जी उसको रहते हैं क्योंकि हनुमान जी सीता जी से पहले परिचित एक बार उसके पहले मंदिर महीने जड़ होने के पहले हनुमान जी सीता जी से मिल करके आए हैं सीता जी भी हनुमान को जानती हैं उपस्थित भी हैं तो जब हनुमान जी जाएंगे तो सीता जी पहचान नहीं ये तो वही है पहचान भी नहीं आगे वही होता भी तो कहते हैं तब हनुमंत नगर में आए तो हनुमान जी जो थे नगर से होते हुए अशोक वाटिका जहाँ सीता जी थे वहाँ पर पहुंचे नगर से होकर पहुंचे तो सुन सभी ने कर भाई अब जहाँ लोगों ने सुना कि हनुमान जी की नगर में आ रहे हैं हाँ, और उधर से जा रहे हैं तो सब आप देखो निशाचरी और निशाचर सब दौड़े हनुमान जी के पास दौड़े आगे बताते हैं बहुत प्रकार की पूजा की हनुमान जी की पूजा करने लगे मैंने उनको प्रणाम किया हाथ जोड़े उनके अब हाँ, देखो यही हनुमान जी पहले आए थे तब बात दूसरी थी जब रावण का राज्य था तभी निशा करिया थी तभी निशा करते लेकिन उस समय कैसा व्यवहार करते थे अब तो यह रावण मारा गया विभीषण का राज्य हो गया तब विभीषण के राज्य में सभी बुद्धि चल गई अब सब जानते हैं कि विभीषण का राज्य विभीषण भगवान का भक्त है उन्हीं का दूध हनुमान है अब तो इन्हीं का राज्य सबको समझो राम का राज्य समझो विभीषण का राज्य समझो हनुमान का राज्य समझो हम तो इनकी सबकी प्रजा है अब देखो दीन भाव आ गया उनके तो इससे ये भी सूचित होता है कि प्रजा वैसी हो जाती जैसा राजा होता यथा राजा तथा प्रजा प्राचीन काल का प्रसन्न चला है जहाँ राजा जो वो हो राजा लोग शासक वर्ग जहाँ नीति नियम धर्म ये सब पालन करने वाले होंगे तो प्रजा भी उसी प्रकार के हो जाएगी राजी द्वाचारी भ्रष्टाचारी हुआ तो प्रजा भी उसी प्रकार के हो जाएगी कोई बात हो गई अभिरामण के स्थान पर ये है निश्चय निशाचरी अब वैसे सुन निशाचरी सुन निश्चरी निशाचर भाए निश्चरी पहले तमाम निश्चरी तमाम तौर पर और निशाचर तो बहुत थोड़े रह गए थे तो मारे गए थे इसलिए उनकी गिनती बात में और जो निशाचर बच्चे भी थे वो ये तो बालक थे या वृद्ध थे वो दौड़ नहीं सकते थे जल्दी आ नहीं सकते थे पूरे पीछे इसलिए पदावली भी उसी प्रकार के रखी गई निशाचरिया पहले दौड़ी आगे जाकर बालक पर निशाकर से पीछे दौड़े और सब दौड़ करके हनुमान जी की सब पूजा करने बहुत प्रकार से पूजा की उनका बड़ा सत्कार किया हनुमान जी ने कहा कि भाई हम तो इसलिए आए हैं कि सीताजी के पास जाना है वो कहाँ है तो बस जनक सुता दिखाए तुम्हें वो चलते हनुमान जी को ले गए आगे आगे हम दिखाते अब उनको ये भी नहीं बता देते कि चले जाओ है हम्म? साथ साथ जाते हैं उनके और हनुमान जी को ले जाते हैं जहाँ पिताजी वहाँ पर हैं वहाँ बैठी हुई तो दूर से ही वो उनको दिखा दी को देखा पिताजी को बैठी जनक तो सुखता दिखाए तुम तो दीनी तो ऐसा कहकर के दिखाए तुम दीनी में ये भाव है कि साथ निशाचर के लड़ पड़े तुम्हारे और उसके बाद दूर रहे थे प्रणाम पद की ना आगे बात ये हनुमान जी ने फिर वहीं से जहाँ से सीता जी दिखा दी दिखाई दी वहीं से उन्होंने प्रणाम किया मैंने हनुमान जी सीता जी के बहुत निकट नहीं जाते पहले भी नहीं गए इसी प्रकार से इस बार नहीं जाते हनुमान जी भगवान राम के निकट चले जाते हैं सीता जी के निकट नहीं जाते दूर से बहुत आदर सत्कार रहा करते हैं तो कहते हैं दूर ही थे प्रणाम पति चिन्हा और रघुपति दूध जाने की चिन्हा और सीता जी ने भी पहचान लिया दूर रघुपति दूध ये हनुमान जी का वही दूध भी पहले आया था तो सीता जी ने पहचान इसलिए भगवान ने हनुमान जी को भेजा ही था ये सब पहचान जाएंगे कि वही बात वही हनुमान आया दास कोई कृपा निकेता कुशल अनुजित कपिसेन समेता तो जैसे सीता जी ने पहचान लिया तो परम सीता हनुमान जी से कि काउ दास प्रभु कृपा निकेता कृपा निधान भगवान श्री राम जी की कुशल बताओ अनुज लक्ष्मण जी की सेन समेता और सेना की कि सबकी कुशल क्या उनके समाचार कुशल बताओ कुशल समाचार बताओ कि भगवान राम कहते हैं क्या हुआ लक्ष्मण जी कहते हैं उनका भी समाचार बताओ सारी सेना में जितने कई लोग आए थे तुम्हारे साथ सबकी सब सेना का क्या हुआ वो सब बता तो ऐसे सीता जी को समाचार मिलता रहता था आपको मालूम है रावण के खराब जिस दिन मरा उसे उसके एक दिन पहले रात्र में सीता आई और सीता जी को बता थी कि किस प्रकार का घटना घट रही युद्ध हो रहा है और युद्ध में रावण मारे नहीं मर रहा है उसके बार बार से बाहें काटी जाती है लेकिन वो बार बार निकल आती है नहीं मरा आज दिन भर युद्ध हुआ लेकिन रावण नहीं मरा बेहोश होकर के रावण चला गया राजभवन में अब तकबरी को तो सीता जी को एक दिन पहले तक की सारी घटना बताई थी और हो सकता है कि आज की घटना जो ये दुर्गा रावण मारा गया वो घटना भी कृष्णा ने बताई हो या और किसी ने उसको बताई हो सीता जी को लेकिन फिर भी सीताजी हनुमान जी के मुख से पूछती हैं कि उनकी सबकी को सब कैसे क्या है तो सीता जी जिज्ञासा अपनी प्रकट करती जानने के लिए तो हनुमान जी जैसा भगवान राम ने कहा था तो सब कुशल सुनाते भी हैं सब विधि कुशल कौशलाधीता ये हनुमान जी के वचन है वो कहते हैं भगवान कौशलाधीश भगवान सब प्रकार से कुशल और माँ तो समर जी देव सीखा हे हाँ, माँ उन्होंने दस तीस रावण को युद्ध में जीत लिया गीता के पल रावण मारा गया विजय प्राप्त हो तो, गई युद्ध समाप्त हो गया और भगवान की राम जी की विजय हो और उसके बाद अभी चल राज विभीषण पायो और ये भी बता दिया कि उसके मरने के बाद रावण का दाह संस्कार भी हो गया और उसको विभीषण को ले जा करके राज सिंहासन पर बैठा भी दिया गया उनका राज भी हो गया इस समय राजा विभीषण ही राजा है सीता जी को मालूम सुन कभी वचन हर सूर्य ये सब कार्यक्रम बनो हो अब या कहीं कोई बाधा नहीं है इसलिए सुन करके सीता जी को बड़ी प्रसन्नता है तो बहुत अच्छा हुआ रावण महाराज या विजय भी प्राप्त हो गई भगवान राम भी कुशल है लक्ष्मण भी कुशल है सेना कुशल है और विभीषण को प्राप्त सिंहासन पर बधाल भी दिया गया तो कोई चिंता की बात नहीं प्रसन्नता की बात तब सीता जी प्रसन्न हो जाती समाचार सूचना प्राप्त और जब प्रसन्न हो जाती सूचना सुन करके तब जगजग हो जाती बहुत अधिक हो जाती है अब उस प्रसन्नता को व्यक्त करें तो अब ये होती है कि भाई तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया है तो इसके बदले में हम तुमको दे क्या अब देखो एक भाव इस बात को माने ये लेने देने की बात भी अपनी संस्कृति में बड़ी विचित्र बात यहाँ ये है कि अगर कहीं कोई कुछ देता है तो उसके बदले में कुछ देना भी चाहिए जो लोग लेने देना जानते हैं देना कुछ नहीं जानते वो भारतीय संस्कृति नहीं जानते यहाँ तो ये है कि अगर कुछ लो तो जो जरूर कहना तो उससे भी अधिक चाहिए लेकिन उसके अधिक नहीं है तो उससे कम सही जो कुछ मदद जहाँ कहीं फ्री कोई बात कर चीज बढ़ रही है गए नहीं ले लिया लेकिन फ्री मिल रही है इसके बदले में देना क्या है क्या फ्री मिल रही है अरे फ्री देना भी चोरी के बराबर फ्री तो बात बहुत है उसके बाद में तो लोग चोरी भी करते हैं फ्री तो लेना लेना है किसी की चीज उठा ली ठीक है देना कुछ नहीं चोरी के मैंने क्या देना कुछ नहीं दुकान आप भाई किसी दुकान पे जाओ पैसा न चुकाओ सामान डाला भगवान क्या किया चोरी तो कही जाएगी अगर देते कुछ नहीं लेते ही लेते हैं तो ये चोरी और व्यक्ति के सर के ऊपर भार चढ़ता जाता है पाप का भार पड़ता है और व्यक्ति को दिखाई नहीं देता हम क्या कर रहे हैं लिया तो उसके बदले में दो बस ये अब सीता जी देने के लिए उतावली होती देखो बता तो मन तन फुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रामा ये तो प्रसन्नता के उनकी सूचक है मन वाणी से शरीर से सब प्रकार से सीता जी प्रसन्न होंगे बता दिया अतिहारस मन मन में बड़ी प्रसन्नता तन फुलक शरीर में रोमांचित होकर शरीर भी प्रसन्न लोचन सजल नेत्र भी प्रसन्न और वाणी से प्रसन्नता व्यक्ति कर रही इस प्रकार से उनका सब प्रकार बहुत प्रसन्न हो गई और पुनि पुनि कहा पुनि पुनि रमा और बार बार तो सीता जी उनसे कहती नहीं है कि काव्यू तो ही प्रय मोह कभी किमत नहीं पाने समा माने के माने जो संदेश तुमने आकर के सुनाया है ये बड़ा मूल्यवान संदेश अब हमें ये नहीं दिखाई देता कि इसके बराबर क्या चीज संसार में तीनों लोगों में कौन सी है जो हम तुमको दे और बार बार कहती है पुनी पुनी कह रहा मैंने बाप और कभी क्या तुमको तो दें तुमको क्या दें इससे ज्यादा मूल्यवान क्या वस्तु हो सकती है मैंने वो सब तरफ अपनी बुद्धि दौड़ाती है कोई उसके बदले में मूल्यवान वस्तु देने अब ये भाव जो आता है देने का भाव ये सात्विक भाव है इस प्रकार की जो वो हो प्रवृत्ति ये जब आवे व्यक्ति के जीवन में तब संतोष में सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास हुआ नहीं तो फिर वो पशु की तरह से है निशाचर की तरह से है जो ले नहीं लेना जानता है खाने ही खाना जानता है तो कहते कहा देव तो इतरे लोग महाकपि किलप नहीं पा नहीं समा जब अब उनको देते हुए देने में कहीं कोई चीज नहीं मिली तो हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि भाई हमको तो माता समझ गया तुम तो देने की बात कर क्या नहीं हमको मिला सुन माँ तुम्हें पायो अखल जगरा कि हे माँ सुनो हमें तो आज सारे जग का राज्य प्राप्त हो गया अब दुनिया में आप क्या भी कहा क्या चीज देने लायक है वो सब मुझे प्राप्त हो गया अब ये हनुमान जी को कैसे प्राप्त हो गया अखिल जगरा मैंने सीता जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है इतना ही मात्र से हनुमान ने मान लिया मुझे सब प्राप्त हो गया अब मनुष्य मतलब सीता जी अगर भगवान हनुमान जी के अनुकूल है तो सीता जी क्या है तीनों लोग सारी सृष्टि सीता जी का रूप है उन्हीं कैसी हुई सारी सृष्टि है सारी सृष्टि उन्हीं में स्थित है सारी सृष्टि उन्हीं में लीन होने वाली है और वो स्वयं अनुकूल जिसके हो जाए तो उसके लिए अप्राप्त क्या है तो सभी प्राप्त तो पिता में तो तीनों लोग पहले ही प्राप्त है आप यदि से प्राप्त कुछ भी बचा नहीं है तो ये तो जग की बात है संसार की बात है तो सुन माँ तो मैं पायु अखिल जगरा पहले सीता जी को खोती रहे तीनों लोगों में कहीं कुछ मिल जाए तो हम इनको दें तब उस हनुमान जी भी कहते हैं तीनों लोग ही हमें मिल गए अब उनमें आप क्या ढोर होगी तो ये तो लोगों की बात सृष्टि की बात होगी और हनुमान जी कहते हैं इसमें कोई संशय की बात नहीं तो जैसे सीता जी ने कहा वैसे हनुमान जी ने भी बोल दिया उन्होंने भी तीन लोगों की बात कही तीनों ने भी कह हाँ तीनों लोग हमें प्राप्त हो गए उसमें वस्तु की ढूंढने की बात ही क्या अब सीता जी ने कहा कि अब चलो लोग के बाहर चलो कहीं कुछ और भी बचा लोगों के अलावा तो कहते हैं रणजीत रुपल बंधु जो तो पश्यामी राम नमामयम तो हनुमान जी कहते हैं कि रण को जीतने के बाद में युद्ध दल बंद हो जो तो भगवान राम और और इनको सबको राम राज्य को मारने के बाद में युद्ध पश्यामी रामम अनामय हनुमान जी कहते हैं जब हमने भगवान राम को देखा कि रावण मारा गया और भगवान राम सब कुशल हैं लक्ष्मण जी कुशल हैं और रामम अनामयम पश्चात मैंने भगवान राम का बाल का नहीं हुआ अनामय के माने निर्विकार उसी प्रकार से स्वस्थ तो बस कहते हैं कि हमको सब कुछ प्राप्त हो तो हनुमान जी की बात सुनकर के सीता जी भी ढूंढ लाई कुछ बात ऐसी जो अलौकिक हो कहते हैं सुन शुद्ध सदुगुण सकल सब हृदय बसो हनुमान कहते हैं हनुमान सुनो कि तुम्हारे हृदय में सारे सदगुण बास कर ये सदगुण कोई लौकिक वस्तु नहीं है तीनों लोगों की अंतर्गत की वस्तु नहीं है तीनों लोगों का राज्य मिल जाए सदगुण व्यक्ति में हो ऐसी कोई संभावना नहीं ये सदगुण तो ईश्वरीय देन है परमात्मा की ही अभिव्यक्ति सदगुण है अगर सदगुण आए तो परमात्मा आया अगर दुर्गुण आए अहंकार आया इसके मन माया रहेगा तो सुन सुत सदगुण सकल कर हृदय बसव हनुमन और शांति सभी हूँ मेरे अमन राम स्मर जी लाते हम रहे और सदा सदगुण तुम्हें पास रहे अभी सदगुणों को तो वैसे भी सीता जी पहले भी कह चुकी थी हनुमान जी जब पिछली बार दूत बन करके आए सीता जी के पास और समाचार सुनाए भगवान के तो भी सीता जी भवन में उन्होंने आघात दिया था हनुमान जी को चलते समय तब भी कोई ऐसी बात बाधा दिया सदगुणों का कि तुम्हें सब, सब समस्त सदगुण तुमको प्राप्त हो लेकिन अब तो क्या बात हो गई अब भगवान राम को जैसे रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो गई तो अब तो सीता जी कहते हैं कि सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसव हनुमंत अब वो सदगुण तो तुम्हारे हृदय में सदा ही बास करें कभी जाए अगर तुम्हारे हृदय में उदारता का भाव हो तो उदारता का भाव सदा रहे कभी घटे नहीं अगर तुम्हारे हृदय में लोक कल्याणकारी प्रेम भाव हो तो सदा बास करे क्षमा दया का भाव हो तो सदा बास करे कभी जाए तो ये कब इस प्रकार के स्थिति गुणों का स्थायी पास कब होता है जब भगवान राम की कृपा हो जब लक्ष्मण जी की कृपा हो जब ये हमें बास करें गुण भी स्थायी रूप से बास करें वैसे तो गुणों और लोगों में भी कभी कभी दिखाई देते हैं जैसे संसार में संसारी जीव भी दुखी तो बहुत रहता है लेकिन कभी कभी सुख भी दिखाई देता है किसी प्रकार संसार में मनुष्यों में दुर्गुण तो तमाम दिखाई देते हैं कभी कभी कोई कोई गुण भी दिखाई दे जाता है लेकिन गुण सदा सभी गुण सदा हृदय में पास करें ये तभी संभव है जब परमात्मा की प्राप्ति हो अन्यथा नहीं और ये सदगुण ही इस बात की सूचना है कि व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हुई है परमात्मा भाव में स्थित अगर उसके जीवन में फिर भी दुर्गुण दिखाई देते हैं दुर्व्यवहार दिखाई देता है तो इसके माने अभी वो परमात्मा से दूर है हृदय में परमात्मा का पास नहीं है उसे और साधना करनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए और प्रयास करना चाहिए और भक्ति लानी चाहिए और श्रवण करना चाहिए साधना में निरंतर उत्साह बदले के रहना चाहिए आगे रघुपति हृदय सुमदीये सत्यम बदा च अखिलात्मा भाग्यम प्रयश्च रघुकुम काम आदितोषरहितम गुरुमान संचय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय